इस पर उनकी बीवी जोर से बोलती हुई आई और उन्होंने अपना चेहरा पीट लिया और कहने लगी क्या एक बांझ बुढ़िया बच्चा जनेगी